निर्बलता सभी निर्बलता है वो गाय भैंस में निर्बलता नहीं है तो अच्छी तरह क्रोध नहीं करती है वो निर्बलता से ही क्रोध बाद में